ए लोगो अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक चांद से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी पैदा की और उन दोनों से बहुत से बारदार औरतें दुनिया में फैला दिए और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हुकूक मांगते हो और रिश्तेदारियों की हक तलफी से डरो यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है